ये लोग चाहते ये हैं कि जिस तरह उन्होंने कुफर को अपना लिया है उसी तरह तुम भी काफिर बनकर सब बराबर हो जाओ लिहाजा ए मुसलमानों तुम उनमें से किसी को उस वक्त तक दोस्त न बनाओ जब तक वह अल्लाह के रास्ते में हिजरत न कर ले चुनाचे अगर वो हिजरत से एराज करें तो उनको पकड़ो और जहां भी उन्हें पाओ उन्हें कत्ल कर दो और उनमें से किसी को ना अपना दोस्त बनाओ ना मददगार